कनिया बानी ना छुड़े पसंद हमार जाए पसंद मारे जाय पुर को मर मर जानी निसी दिन तोले घाट खोये परी पुरानी केतिक कहा पुकारी कहा नहीं करे अनारी लालच से भापतित सहे नाना दुख भारी ये मन भाव निर्लज लाज नहीं करे अपानी जिन हरि पैदा किया ही का मर्मो न जानी चौरासी फिर आय के पलटू जूती खा बनिया बानी ना छोड़े पसंदा मार जाए पसंदा मार जाय पुर को मर न जानी सात पूरी हम देखिया देखे चारो धाम देखे चारो धाम सबनमा पाथर पानी कर मान के बासी पड़े मुक्ति की राह झुलानी सात पूरी हम देखिया চলত চলত পাগ থাকে छिन भई अपनी काया काबा क्रोध नहीं मीटे बैठ कर बहुत नया साथ पूरी हम देखिया ऊपर डाला धोय मैल दिल बीच समाना पाथर मा गया भूल संत का मारा मान जाना साथ पूरी हम देखिया पलटू नाहक पची मुए संतन में है नाम साता पूरी हमा देखिया देखे चारों धाम सात पूरी हम देखिया निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा हो काम हमारा होय बिना कोड़ी का चाकर कमर बांध के फिर करे तिहुलो उजागर उसे हमारी सोच पल भर ना बिसारे लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी संत कहे दृढ़ करे जगत का भरम छुड़ावे निंदक गुरु हमार नाम से वाही मिलावे सुन के निंदक मरी गया पलटू दिया है रोय निंदक जीवे जुगन जुग की हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी न सकूं उनके गुस्से के मिटाने की हैं सौ तदबीरें लाभ की आग नहीं है कि बुझा भी न सकूं चुटकियां लेने से दिल में वो करें क्यों इनकार दाग कुछ दर्द नहीं है कि दिखा भी न सकूं मैं अगर घर से निकलता हूं तो घर क्यों है उदास क्या दमे बाजे पसी हैं कि फिर आ भी न सकूं कोई पूछे तो मोहब्बत से ये क्या है इंसाफ वो मुझे दिल से भुला दे मैं भुला भी न सकूं नक से हस्ती में अभी महब किए देता हूं खते तकदीर नहीं है कि मिटा भी न सकू उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकू ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी न सकू परमात्मा की खोज अनूठी खोज है परमात्मा जब तक नहीं मिला तब तक खोजी है खोज है परमात्मा मिला कि खोजी भी मिटा खोज भी मिटी वस्तुतः खोजी मिटे खोज मिटे तो परमात्मा मिले जब तक मैं का भाव शेष है तब तक उससे कोई संबंध नहीं हो पाता इसलिए खोज अनूठी है बेबूझ है अतर्क है अपने को मिटाए बिना मिलना नहीं हो सकता बुद्धि स्वभावता पूछेगी कि जब हम ही न रहे तो मिलने से भी क्या होगा जब हम ही न रहे तो मिलेगा कौन जब हम ही न रहे तो साक्षात्कार कौन करेगा दर्पण ही टूट गया तो प्रतिच्छवि किसकी बनेगी इसलिए बात अतर्क है तर्क की सीमा के पार है तर्क तो यही कहेगा मिलन तभी हो सकता है जब दो हो दो तो चाहिए ही चाहिए मिलने को दुई के बिना मिलन कैसे और जिन्होंने जाना है वे कहते हैं मिलन तो तभी होता है जब एक ही बचता है क्योंकि एक में ही मिलन है जब दो खो जाते हैं और एक ही रह जाता है तब मिलन का स्वाद है स्वाद लेने वाला नहीं बचता स्वाद ही बचता है उसकी हसरत है जिससे दिल से मिटा भी न सकूं ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी न सकूं परमात्मा को पाया नहीं जा सकता पाने की भाषा ही अहंकार की भाषा है पाने का अर्थ है मैं रहूं और मेरा परिग्रह बढ़े धन भी हो मेरे पास पद भी हो मेरे पास समाधि भी मेरे पास स्वर्ग भी मेरे पास परमात्मा भी मेरे पास मेरी तिजोरी में सब बंद हो जाए मेरी मुट्ठी में सब हो परमात्मा भी छूट ना जाए वो भी मेरी मुट्ठी में होना चाहिए वो भी मैं विजय करूंगा अहंकार विजय की यात्रा पर निकलता है लेकिन परमात्मा को पाने का ढंग अपने को मिटाना है अपने को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देना है शून्यवत हो जाना है इसलिए परमात्मा को पाने की बात ही संभव नहीं है हम मिटे तो परमात्मा फलित होता है परमात्मा हमें पा लेता है ऐसा कहना उचित है हम कैसे परमात्मा को पाएंगे हम तो बाधा ना दें इतना ही काफी है हम तो बीच में न आए इतना ही बहुत है हम दीवार में बने तो धन्य भागी परमात्मा हमें पाले और हम रुकावट न डालें परमात्मा का हाथ हमें पाने आए तो हम भागे ना बचे ना छिपे ना बस इतना ही साधक को करना है छिपे ना बचे ना खोल दे अपने को उघाड़ दे अपने को हो जाए नग्न निर्वस्त्र कोई छिपाव नहीं कोई दुराव नहीं खोल दे अपने हृदय को पूरा पूरा कहीं कोई रत्ती भर भी बचाव रह गया तो मिलन में बाधा रह जाएगी उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकू ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी न सकू नक से हस्ती में अभी महब किए देता हूं तैयार हूं मिटाने को अपने को ये अस्तित्व के सारे चिन्ह पहुंच डालने को तैयार हूं नक्श हस्ती मैं अभी महब किए देता हूं खते तकदीर नहीं है कि मिटा भी ना सकूं ये कोई भाग्य की रेखा नहीं है कि जिससे मिटा ना सकूं ये मेरा अहंकार तो मेरी ही बनावट है ये तो मेरे ही हाथ का खिलौना है जब चाहू तब तोड़ दू ये मेरा होना कोई वास्तविक होना नहीं है एक झूठ है सरासर झूठ है एक भ्रम है एक मान्यता है इसे तोड़ देने में जरा भी अड़चन नहीं मगर नहीं तोड़ पाते हम अड़चन जरा भी नहीं है और अड़चन बड़ी है टूट तो सकता है अभी मगर टूटता नहीं जन्मों जन्मों क्या होगा कारण पलटू कारण कहते हैं बनिया बानी न छोड़े पसंदा मारे जाए पसंदा मार जाए पूर्व को मरम न जाने पुरानी आदत सदियों सदियों जन्मों जन्मों की आदत इसके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं हम इस झूठ को इतने दिन तक जिए हैं कि झूठ सच हो गया है सच को बहुत दिनों तक न दिया जिया जाए तो झूठ हो जाता है हमसे उसके संबंध टूट जाते हैं हमारे प्राणों में उसकी जड़ नहीं रह जाती और झूठ बहुत दिन तक जिया जाए तो सच जैसा मालूम होने लगता है सच तो नहीं हो सकता है लेकिन सच जैसा मालूम होना ही हमारे लिए सच होना हो जाता है अडल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजनीति शास्त्र का मूल आधार है झूठों को दोहराते रहो दोहराते रहो दोहराते रहो धीरे धीरे लोग मान लेते इतनी बार दोहराओ कि लोग भूल ही जाएं कि यह झूठ है यही तो विज्ञापन शास्त्र का भी मूल आधार है दोहराए जाओ पहले लोग ध्यान नहीं देते फिर धीरे धीरे ध्यान देते हैं फिर बिना ध्यान दिए भी ध्यान उनका लगा जाता है दोहराए जाओ सब तरफ से चारों तरफ से हर तरफ से गुंजार उठाए जाओ लोग धीरे धीरे सम्मोहित हो जाते झूठ की पुनरुक्ति सम्मोहित कर देती और जैसे ही व्यक्ति सम्मोहित हुआ कि फिर झूठ उसके लिए तो सच ही जैसा है और उसके लिए तो झूठ भी सच ही जैसा काम करेगा वह तो उसके जीवन का यथार्थ हो गया वो उसके लिए जिएगा और मरेगा आदत अहंकार को बल दे रही है बचपन से ही हमें अहंकार सिखाया जाता है हमारी सारी शिक्षा अहंकार के इर्द गिर्द घूमती हमारा नीति शास्त्र अहंकार को परिपुष्ट करता है और ये एक जन्म की बात नहीं जन्मों जन्मों की बात है हर जन्म में यही किया गया है इसलिए अहंकार जो कि नहीं है सब कुछ होके बैठ गया है जो कि नौकर भी नहीं है वो मालिक होके बैठ गया है और आत्मा जो कि मालिक है उसकी हमें कोई खबर ही ना रही उदाहरण के लिए पलटू कहते हैं जैसे बनिए को आदत हो जाए दाढ़ी मारने की बनिया बानी ने छोड़े पसंदा मारे जाए अब वो कोई सोच विचार के दाढ़ी नहीं मारता है सोच विचार के कम नहीं तोलता कम तोलना उसकी आदत हो गई मैंने सुनी है एक कहानी संत एकनाथ तीर्थ यात्रा को जाते थे कोई सौ डेढ़ सौ आदमियों की मंडली भी संत के साथ तीर्थ यात्रा को जाती थी सारा गांव ही तीर्थ यात्रा को जा रहा था एक तो एक नाथ का संग साथ और फिर तीर्थ सोने में सुगंध सत्संग भी होगा तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी गांव का एक चोर भी एक नाथ के पीछे पड़ा कि मुझे भी ले चलो चोर जाहिर चोर था एक नाथ ने कहा कि भाई मेरे मुझे तो कोई अड़चन नहीं लेकिन तू झंझट करेगा चोरी तेरी आदत है चोरी तेरी जीवन की शैली है तेरी पद्धति तू तीर्थयात्री दल में चुराएगा और रोज झंझट खड़ी होगी मना तुझे मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मैं कौन हूं मना करूं तुझे तीर्थ यात्रा जाने से और तेरे मन में यह सद्भाव उठा अच्छा सौभाग्य की बात है ये किरण तेरे मन में उतरी शायद यही तेरा रूपांतरण बन जाए लेकिन एक वचन एक आश्वासन देना होगा कि तीर्थ यात्रा है जब तक चलेगी शुरू से लेकर आखिर तक जब तक हम गांव वापस ना आ जाएं तब तक ये आदत स्थगित रखना ये चोरी भूल ही जाना चोर ने पैर पकड़ लिए और कहा कि कसम खाता हूं कि चोरी नहीं करूंगा लेकिन चोर आखिर चोर रात हो तो उसे बड़ी बेचैनी हो उसके हाथ तड़फने लगे रात उसे नींद ना आए करबटें बदले आखिर उसने तरकीब निकाल ली वचन भी रखा और तरकीब भी निकाल ली एक यात्री के बिस्तर में से चीजें निकाल के दूसरे यात्री के बिस्तर में रख दे चोरी भी नहीं हुई खुद तो लिया नहीं इसलिए चोरी तो कोई कह नहीं सकता है लेकिन उस पुरानी आदत को राहत मिले जैसे खाज को खुजलाने से सुख मिलता लगता है मिलता तो नहीं मिलता तो दुखी है मगर दस पांच लोगों का सामान गड़बड़ कर दे तो फिर वो चैन से सोए यात्री बड़े हैरान किसी का लोटर नदारत किसी की बाल्टी खो गई किसी की रस्सी ही खो गई मिल तो जाए लेकिन कभी किसी के बिस्तर में कभी किसी के बिंडल में कभी कहीं छिपी यहां तक कि एक नाथ के बिस्तर तक में लोगों की चीजें निकलने लगी अब तो ये तो कोई भरोसा ही ना करे कि एक नाथ और चुराएंगे बड़ी बेचैनी रही और रोज ये हो ये कोई एक दिन की बात नहीं रोज सुबह उठ के लोगों को अपनी चीजें खोजना पड़े ये कौन कर रहा है आखिर एक नाथ ने विचार किया एक रात जग के बैठे रहे कि देखें कौन करता है वही चोर उठा उसने इसका सामान उसके बिस्तर में किया इसका कंबल उसके बिस्तर में डाल दिया उसका तकिया खींच के इसके बिस्तर में कर दिया एक नाथ ने उसे रंगों हाथों पकड़ लिया और कहा कि देख तूने आश्वासन दिया था उसने कहा महाराज चोरी नहीं करूंगा इसका आश्वासन दिया था लेकिन अभ्यास नहीं करूंगा इसका आश्वासन नहीं दिया था आपने भी कहा है कि तीर्थ यात्रा के बाद जो तुझे करना हो सो करना मगर अभ्यास तो करूं नहीं तो तीर्थ यात्रा के बाद क्या करूंगा मारा जाऊंगा भूखा मारा जाऊंगा यही तो मेरी कला है चोरी मैं नहीं कर रहा हूं एक पैसे की किसी की चीज मैंने नहीं ली अपने नियम पे आबद्ध जो व्रत ले लिया ले लिया जो संकल्प कर लिया कर लिया मगर अभ्यास नहीं करूंगा ऐसा ना मैंने आपसे कहा था ना आप अपेक्षा रखना थोड़ी बहुत तकलीफ लोगों को होती है वो मुझे भी मालूम है मगर ये मेरी जीवनचर्या है आखिर उनकी तकलीफ देखूं कि अपनी तकलीफ देखूं रात भर सो नहीं पाऊं दिन भर यात्रा करनी है और रात नींद नहीं और दिन भर चलना मैं मरी जाऊंगा घर लौट ही ना पाऊंगा हत्या तुम्हारे सिर लगेगी एक नाथ को भी बात तो जिच बात तो ठीक थी चोर आखिर चोर है आदत आसानी से नहीं छूट सकती आपके नए नए रास्ते निकाल लेती अपनी अभिव्यक्ति के नए नए मार्ग खोज लेती बनिया बानी न छोड़े पसंदा मारे जाए पसंदा मारे जाए पूर्व को मरम न जानी बड़ा प्यारा वचन सीधे साधे वचन पलटू के पर बड़े अमृत भरे बड़े रस भरे सत्य की उनमें बड़ी झलक कहते हैं कि आधा अधूरा तोल रहा है इससे पूरे का मजा आया ही नहीं बड़ी सांकेतिक बात कह दी पूर्व को मरम न जानी इसे सच्चे होने का राज ही पता नहीं इसे स्वच्छ होने का सीधा साफ सुथरा होने का सौंदर्य ही पता नहीं और ये जो कमी किए जा रहा है ये जो कम तोले जा रहा है ये सिर्फ तोलने की ही बात नहीं है ध्यान रहे ये आदत अगर गहरी हो गई तो ये पूरे को परमात्मा को कभी पा ही ना सकेगा ये कम की ही आदत बनी रही तो पूरे को कैसे पाएगा अपूर्ण से ग्रस्त हो जाएगा तो पूर्ण को ना पा सकेगा उपनिषद कहते हैं उस पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल लें तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है उस पूर्ण में हम पूर्ण को जोड़ दें तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है उस पूरे को कब जानोगे आदत तुमने बांधी है अपूर्ण की यह वचन तो सीधा साफ है लेकिन इसका दर्शन गहरा है इसमें थोड़ी डुबकी मारो हम सब ने अधूरे की आदत बांध ली कोई कहता है मैं शरीर हूं कोई कहता है मैं मन हूं कोई कहता है मैं बुद्धि हूं कोई कहता है मैं मेरा धन हूं मैं मेरा पद हूं मैं मेरा मकान हूं किसी का दिवाला निकल जाता है तो आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वो कहता है आप बचा ही क्या अब जी के क्या करेंगे जैसे धन ही जीवन था किसी की पत्नी मर गई किसी का पति मर गया आत्महत्या जैसे पत्नी ही जीवन थी जैसे पति ही जीवन था जैसे जीवन सीमाओं में समाप्त हो जाता है इतने छोटे बटखरों से जीवन को तोलोगे और ये बटखरे भी पूरे नहीं बनिए के बटखरे ये बटखरे भी सच्चे नहीं ये जो अपूर्ण की आदत बनी है अपूर्ण के साथ तादात्म कर लेने की क्षुद्र के साथ अपने को जोड़ लेने की क्षुद्र में आबद्ध हो जाने की क्षुद्र से आच्छन्न हो जाने की आच्छादित हो जाने की इसके कारण ही हम पूर्ण को नहीं जान पाते पूर्ण हमारा अधिकार है हम पूर्ण हैं तत्वमसी तुम भी वही हो जो बुद्ध है जो महावीर है जो कृष्ण है तत्वमसी तुम भी वही हो जो क्राइस्ट है जो जरथुस जो मोहम्मद है तुम भी वही हो जो इस सारे विराट में छाया है जो फूलों में खिला है चांतारों में मुस्काया है तुम वही हो मगर उस तरफ आंख कैसे उठे तुमने तो बहुत छोटा सा आंगन बना लिया है आकाश को भूल गए आंगन पर ही आंख टिका दी आंगन में ही रह गए हो अटक कर इतने छोटे आंगन में दुख न होगा तो क्या होगा नरक न होगा तो क्या होगा इस छोटे आंगन में सांसें घुट रही प्राण फैल नहीं पाते पंख खुल नहीं पाते पिंजड़े बड़े छोटे हैं पिंजड़ों के बाहर होने की कला ही धर्म है लेकिन आत्म पिंजड़ों की बंद रहने की आदत हो गई छोटे होने में हमारा अभ्यास इतना गहन हो गया है कि विराट होने में हम डरते हैं अगर कोई तुमसे कहे कि तुम परमात्मा हो तो तुम मानने को राजी नहीं होते यही कहते रहे जागृत पुरुष कि तुम परमात्मा हो मगर तुम मानने को राजी नहीं होते तुम ये तो मानते ही नहीं कि तुम परमात्मा हो तुम ये भी मानने को राजी नहीं होते कि बुद्ध परमात्मा है कि कृष्ण परमात्मा है तुम इतना बचना चाहते हो विराट से कि तुम बुद्धों को भी परमात्मा स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनको स्वीकार करो तो फिर आज नहीं कल तुम्हें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम भी वही हो क्योंकि ऐसे ही हड्डी मांस मज्जा से तो वे भी बने ऐसे ही तो जैसे तुम बीमार भी होते हैं बूढ़े भी होते हैं मरते भी हैं तुम में और उनमें शरीर की तरह से कोई भेद नहीं है अगर भेद है तो सिर्फ बोध का है उन्हें पता है कि वे कौन हैं और तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन वे जागे हैं और तुम सोए हो और सोना सिर्फ तुम्हारी आदत हो गई है सोने के भी थोड़े सुख हैं चिंता नहीं फिक्र नहीं लेकिन सोने के दुख भी बहुत बड़े हैं क्योंकि सोने के साथ ही जुड़े हैं सारे दुख स्वप्न और सोने का सबसे बड़ा दुख यह है कि जागने का जो आनंद उत्सव है उससे तुम वंचित रह जाओगे वो जो कमल खिलते हैं जागृति में वो जो चैतन्य का नृत्य होता है जागृति में उसकी बूंद भी तुम्हारे कंठ में ना उतरेगी तुम सोए ही पड़े रह जाओगे जीवन नाचता हुआ पास से गुजर जाएगा जीवन गीत गाता हुआ पास से गुजर जाएगा और तुम सोए ही पड़े रह जाओगे तुम्हें पता ही ना चलेगा कि कैसा अपूर्व अवसर था और गमा दिया बाधा एक है आदत आदत मनुष्य को यंत्रवत बना देती है विलियम जेम्स ने उल्लेख किया है कि वह एक होटल में बैठा एक मित्र के साथ गपशप कर रहा था रास्ते से गुजरता था एक रिटायर्ड मिलिट्री का कप्तान सिर पर रख ली थी उस कप्तान ने एक टोकरी जिसमें अंडे भरे थे विलियम जेम्स बड़ा मनोवैज्ञानिक था अमरीका का अपने मित्र से बात कर रहा था संयोग वसात आदत के संबंध की बात चल रही थी उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं बाहर की तरफ देखा और जोर से आवाज दी अटेंशन वो जो आदमी कोई 20 साल पहले रिटायर हो चुका था उसने एकदम टोकरी छोड़ दी और अटेंशन खड़ा हो गया सारे अंडे फूट गए और रास्ते पे बिखर गए बड़ा नाराज हुआ मरने मारने को उतारू हो गए विलियम जेम्स ने कहा यह भी कोई मजाक है मुझ गरीब आदमी के साथ किसी तरह अपना पालन पोषण कर रहा हूं विलियम जेम्स ने कहा लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं अटेंशन शब्द का उपयोग करने का तो मुझे हक है तुम न सुनते तुम न मानते उस आदमी ने कहा ये मेरे बस का है क्या जब अटेंशन कहा जाता तो अटेंशन यानी अटेंशन ये मैंने कोई जान के किया जान के मैं करता ये तो अब अचेतन आदत का हिस्सा हो गया सैनिक को तैयार किया जाता यंत्र की भांति इसलिए सैनिक मनुष्यता का सर्वाधिक पतन है और दुनिया में जब तक सैनिक रहेंगे तब तक आदमी बहुत ऊंचाइयां नहीं ले सकता सैनिक को हम खूब सम्मान देते क्योंकि उसकी आत्मा हम खरीद रहे हैं सैनिक को हम अच्छी से अच्छी तनख्वाह देते हैं क्योंकि उसका बड़ा बहुमूल्य जीवन हम नष्ट कर रहे हैं सैनिक को हम खूब तगमे देते महावीर चक्र इत्यादि उसको बड़ी प्रतिष्ठाएं मिलती क्यों क्या कारण है कारण है कि वो अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य निधि बेच रहा है सस्ते में दो टुकड़ों में सैनिक का शिक्षण क्या है सारे शिक्षण का एक ही सार है कि मनुष्य को नष्ट कर दो और आदतें ही आदतें रह जाएं right turn left turn attention अब रोज किसी आदमी को तीन चार घंटे right turn left turn right turn left turn करना पड़े कब तक सोच सोच के करेगा थक जाएगा सोचना फिर तो एकदम राइट टर्न सुना कि राइट टर्न हुआ सुनने में और होने में बीच में विचार नहीं आएगा एक महिला ने एक मनोवैज्ञानिक को कहा कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूं ज्यादा तो नहीं क्योंकि वो मिलिट्री में है और कभी कभी आते मगर जब आते तो जब भी वो बाएं करवट होते हैं ऐसे घुर्राते हैं कि मेरी तो नींद लगती नहीं बच्चे नहीं सो सकते पड़ोसी तक शिकायत करते उनका घुर्राना क्या है जैसे सिंह की दहाड़ मगर एक बात है कि जब वो बाएं करवट होते तभी घुर्राते तो कोई तरकीब मनोवैज्ञानिक ने कहा तरकीब आसान है जब वो बाएं करवट होते तभी घुर्राते हैं ना तो तू कल जब वो रात सोए और घुर्राने लगे बाएं होकर तो कान में उनसे कहना राइट टर्न पत्नी ने कहा इससे क्या होगा नींद में मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कहा नींद कहा हो सैनिक तो नींद में ही होता जागता कहा उसको जागने देते नहीं हम उसको तो अफीम पिलाते उसको सुलाए रखते ये सोए हुए आदमी हमें चाहिए क्योंकि लोगों की हत्याएं करवानी है गोलियां चलवानी है बम गिरवाने ये कोई जागे हुए आदमी कर सकेंगे ऐसे काम इनके लिए तो बिल्कुल मुर्दा चाहिए मुर्दा और मजबूत तू कोशिश तो कर पत्नी को कुछ जची तो नहीं बात <clears throat> मगर कोशिश करने में हर्ज भी क्या था कोशिश की और चौंकी कि जैसे उसने कहा राइट टर्न पति एकदम करबड़ बदल के राइट टर्न हो गए घुर्राना बंद हो गया नींद में भी हमारी आत्में हमारी अचेतन आत्ते काम करती नींद में भी हम उनके वसीभूत होते वे इतनी गहरी चली गई होती हैं कि जागना जरूरी नहीं होता है सैनिक को वर्षों तक हम इसी तरह अचेतन करते जब वो बिल्कुल अचेतन हो जाता है इसी को शिक्षण कहते हैं सैनिक का शिक्षण परेज कवायद करवाते रहते उल्टी सीधी परेड कवायद जिसका कोई मूल्य नहीं है क्या सार है आदमी को बाएं घूमो दाएं घूमो एक दार्शनिक एक बार भर्ती हो गया युद्ध में जैसी उसको कहा बाएं घूमो सब तो घूम गए वो खड़ा ही रहा पूछा उसके कप्तान ने जाहिर प्रसिद्ध दार्शनिक था एकदम कप्तान फौजी भाषा में बोल भी नहीं सकता था फौजी भाषा तो गाली गलौज की होती अगर कोई और होता तो कप्तान ने जो भी गंदी से गंदी गालियां हो सकती थी दी होती मगर इससे तो थोड़ा सम्मान से व्यवहार करना पड़ेगा प्रसिद्ध आदमी है लोक विख्यात है कहा महानुभाव कहना तो चाहता था हे उल्लू के पट्टे लेकिन कहा महानुभाव जब मैंने कहा बाएं घूम तो आप खड़े क्यों दार्शनिक ने पूछा लेकिन बाएं घूमू क्यों बाएं घूमने में प्रयोजन बाएं घूमने से क्या मिलेगा जो बाएं घूम गए उनको क्या मिला और मैंने ये देखा कि जिनको तुमने बाएं घुमाया फिर उनको दाएं घुमा दिया वो फिर वैसी के वैसे खड़े हैं जहां मैं खड़े ही हूं पहले से मैं वैसी का वैसा इतने उपद्रव में मैं क्यों पढ़ू तो पहले सिद्ध करो कि सार क्या है प्रयोजन क्या है और फिर ये भी पक्का करो कि फिर दाएं घूम तो नहीं कहोगे नहीं तो क्या सार इतना चक्कर मार के फिर वहीं आ गए तो पहले से वहीं खड़े रहे ना कप्तान ने कहा कि ये तो आदमी काम का नहीं है ऐसे सोच विचार करोगे तो सैनिक होने की क्षमता खो देते हो विचार का सैनिक होने से कोई नाता नहीं है सन्यासी को विचार के ऊपर उठना पड़ता है सैनिक को विचार से नीचे गिरना पड़ता है एक संबंध में सन्यासी और सैनिक में समानता होती दोनों निर्विचार सन्यासी निर्विचार होता है विचार का अतिक्रमण करके विचार का साक्षी बन के और सैनिक निर्विचार होता है विचार इत्यादि की झंझट छोड़ के जड़वत हो जाता है भेद बड़ा है लेकिन समानता भी है कप्तान ने सोचा कि यह काम इससे नहीं होने का तो कहा भाई तुमसे ये काम नहीं होगा तुम कोई दूसरा काम करो भर्ती हो ही गए हो तो तुमको हम चौके में लगा देते हैं वहां कोई दाएं नहीं घूमना बाएं नहीं घूमना छोटे मोटे काम वो तुम करो छोटा से छोटा काम दिया मटर के दाने कि बड़े दाने एक तरफ करो छोटे दाने एक तरफ करो जब दो घंटे बाद कप्तान आया तो देखा कि दार्शनिक ठुड्डी से हाथ लगा है वैसी का वैसा बैठा है जैसा छोड़ गया था और दाने वैसी के वैसे एक दाना यहां से वहां नहीं हटाया है उसने कप्तान ने पूछा कि कोई अड़चन इसमें भी है आपको उसने कहा अड़चन है सवाल यह है कि बड़े कर दो एक तरफ छोटे कर दो एक तरफ मझोल भी है कुछ उनको कहा करो और जब तक सब चीजें बिल्कुल साफ ना हो जाएं, मैं बिना विचार के कदम उठाता ही नहीं तो कप्तान ने कहा हम आपके हाथ जोड़ते हैं आप कृपा करके घर जाएं और घर ही विचार करें ये स्थान आपके लिए नहीं सैनिक को हम आदत में ढालते धीरे धीरे वो यंत्रवत हो जाता है तभी तो यह संभव होता है कि हिरोशिमा पर एटम बम गिरा देता है नहीं तो सोचेगा नहीं आदमी एक लाख आदमी मेरे बम गिराने से मर जाएंगे इससे तो बेहतर है कि मैं कह दूं कि मुझे गोली मार दो ये एक लाख आदमियों में छोटे छोटे बच्चे होंगे गर्भिणी स्त्रियां होंगी अभी अभी विवाह युवक होंगे अभी अभी विवाहित युवतियां होंगी अभी हनीमून पर जाने के लिए तैयार जोड़े होंगे वृद्ध होंगे वृद्धा होंगी बीमार होंगे रुग्ण होंगे ये हरी भरी बस्ती एक लाख लोग ये मिट्टी में मिल जाएंगे एक पांच सेकंड लगेंगे और राख हो जाएंगे मैं इन्हें राख करूं लेकिन सवाल ही नहीं उठता उससे ये वो सिर्फ अपनी आज्ञा का पालन करता है उसे कहा गया है जो वही करता है वो उत्तरदायित्व के संबंध में सोचता ही नहीं उत्तरदायित्व शब्द उसके भीतर होता ही नहीं कि मेरा कोई मानवीय दायित्व भी है कि मेरे भीतर भी कोई नैतिक अंत चेतन होना चाहिए कि मेरा भी कोई अंतकरण है अंतकरण को तो हम मिटा डालते वो एटम बम गिरा के सैनिक रात मजे से सोया सुबह जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि रात सो सके क्योंकि कौन आदमी ऐसा होगा जो एक लाख आदमियों को मारते और रात सो सके उसने कहा मैं बड़ी निश्चिंता से सोया क्योंकि जो काम दिया गया था वो पूरा कर दिया फिर नींद के अतिरिक्त और क्या है नींद मुझे गहरी आई एक लाख आदमी जल भुन गए और ये आदमी रात भर गहरी नहीं सोया रहा आदमी हमने मिटा दिया इसके भीतर से दुनिया में जब तक राष्ट्र है सेनाएं रहेंगी और जब तक सेनाएं हैं तब तक करोड़ों लोग बिना आत्मा के जिएंगे उनका काम ही यही है कि वो मशीन की तरह व्यवहार करें भारतीय सरकार ने ठीक ही किया है यहाँ मेरे पास जगह जगह से पत्र आ रहे हैं सैनिकों के जिनमें कुछ सन्यासी हैं जिनमें बहुत मुझ में उत्सुक है उनके पत्र आ रहे हैं कि सरकार की सूचनाएं मिली हैं कि न तो मेरी कोई किताब पढ़ी जाए न टेप सुने जाएं, न मुझसे किसी तरह का संबंध रखा जाए मुझसे किसी तरह का भी संबंध रखना सेना से बगावत समझी जाएगी बात सच है बात ठीक ही है क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो कोई एक ही सेना से बगावत की बात नहीं मैं तो चाहता हूं इस दुनिया में सेना रह ही ना जाए इसलिए सरकार ठीक ही बात कह रही क्योंकि मेरी बात सैनिकों तक नहीं पहुंचनी चाहिए अगर ये उन तक पहुंचेगी और उनको ये बोध होना शुरू हो जाए कि उनका जीवन किस तरह नष्ट किया जा रहा है किस तरह उनकी आत्मा को धूमिल किया जा रहा है किस तरह उनकी चेतना को आत्तों में दबाया जा रहा है किस तरह उनको मशीनों में बदला जा रहा है तो शायद उनके भीतर भी अपनी आत्मा को इस तरह नष्ट न होने देने के लिए विचार उठे मेरी बात खतरनाक हो सकती है मेरी बात का मौलिक आधार यही है कि मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी कीमती मूल्यवान चीज है उसकी चेतना और जिन कारणों से भी चेतना नष्ट हो जाती है वे सभी कारण घातक है आदत सबसे बड़ी घातक चीज है तुमसे कहा गया है बार बार कि अच्छी आदतें होती बुरी आदतें होती मैं तुमसे कहता हूं कि सब आदतें बुरी होती आदत मात्र बुरी होती आदत ही बुरी होती एक आदमी को आदत है कि वो सिगरेट पीता है इसको हम कहते हैं बुरी आदत क्या बुरा है इसमें यह आदमी धुआं भीतर ले जाता बाहर ले जाता स्वास्थ्य के खिलाफ है जरूर शायद सत्तर साल जीता तो अब दो साल कम जिएगा शायद यह आदमी जानता नहीं कि स्वच्छ और ताजी हवाओं को भीतर ले जाने में ज्यादा सार है ज्यादा आयु वर्धक ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक ये नाहक हवाओं को गंदा करके भीतर ले जा रहा ना समझ है मगर कोई पाप नहीं कर रहा है और इसको जब समय पर सिगरेट नहीं मिलती तो तलफ लगती मैं इसके धुएं के बाहर भीतर ले जाने को या थोड़ी सी निकोटिन इसके भीतर पहुंच जाने को कोई पाप नहीं मानता लेकिन बिना सिगरेट के ये नहीं जी सकता इस बात में असली भूल है ये आदत का गुलाम हो गया इसको सिगरेट न मिले तो ये मुश्किल में पड़ जाएगा जब पहली दफा उत्तर ध्रुव पर यात्री गए तो उनकी नाव फंस गई सोचा था कि लौट आएंगे समय पर लेकिन नहीं लौट सके तीन सप्ताह देर से लौट पाए वो तीन सप्ताह में उन यात्रियों की डायरी में जो उल्लेख है भोजन चुप गया उसकी लोगों को फिक्र नहीं मछलियां मार के किसी तरह भोजन कर लेते सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि सिगरेट चुप गई तीन सप्ताह के लिए सिगरेट नहीं थी और कैप्टन इतना घबरा गया कि लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे अब अगर सब रस्सियां कट जाएं तो फिर यात्रा हो ही नहीं सकती उसे लोगों को पहरे पर रखना पड़ता कि कोई रस्सियां ना काटे मगर जिनको पहरे पर रखता वही रस्सियां काट के पी जाती अब तुम सोच नहीं सकते कि कोई जहाज की सड़ी गली रस्सियों को काट के और पिएगा लेकिन आदत आदत है आदमी किसी भी मजबूरी के लिए राजी हो सकता है मजबूरी में किसी भी चीज के लिए राजी हो सकता है मैं सिगरेट पीने को पाप नहीं कहता लेकिन वो जो आदत है अगर कोई सिगरेट पीने का मालिक हो कि जब चाहे पी ले और जब चाहे छोड़ दे आज पी ले और फिर छह महीने नाम ना ले फिर पी ले एक दिन और फिर ऐसे रख दे जैसे कभी ना पी थी तो मैं कुछ ऐतराज नहीं करूंगा मैं कहूंगा ये मालिक है अपना इसकी मौज कभी अगर एक आध दफा धुआं उड़ाने का मजा इससे लेना होता है तो ले लेता है मगर ये कोई आदत नहीं तो पाप नहीं पाप निकोटिन में नहीं है पाप सिगरेट में नहीं है तमाकू में नहीं पाप अगर कहीं है तो आदत में तो फिर बात बदल जाएगी फिर हमें पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा एक आदमी है जिसको आदत है कि रोज सुबह माला जपे अगर एक दिन माला न जपे तो तलफ लगती उसको भी मैं तलफ ही कहता हूं है वो तलफ ही हालांकि वो आदमी कहता है कि बिना माला जपे मुझे अच्छा नहीं लगता है मुझे राम से ऐसा लगाव है प्रभु की मुझे ऐसी याद आती वो धार्मिक शब्दों का उपयोग करता सच बात यह कि तलफ वो जब तक माला माला जपने में कौन सी खूबी हो सकती है गुरिये सरकारा है और राम राम राम राम राम राम और गुरिये सरकारा है और राम राम राम राम कर रहा है जब तक वो अपनी संख्या पूरी ना कर ले अगर एक हजार आठ बार करना है माला का जाप तो एक हजार आठ बार न कर ले अगर एक हजार सात बार भी किया तो दिन भर उसे खटक लगी रहेगी कि कुछ कमी रह गई कुछ कमी रह गई ये आध्यात्मिक ढंग का निकोटिन इसमें कुछ बहुत फर्क नहीं ये आदत धार्मिक है मगर उतनी ही घातक है जितनी पहली आदत शायद थोड़ी ज्यादा घातक है क्योंकि पहली आदत तो बुरी है ऐसा लोगों को पता है दूसरी आदत बड़ी अच्छी है ऐसा लोगों को पता है मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था घूमने जाता था रोज सुबह यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी मेरे साथ घूमने जाते थे उनको आदत थी कि कोई भी मंदिर देखें तो हाथ जोड़ के नमस्कार करना मैं जरा परेशान हुआ क्योंकि जहां से हम गुजरते थे कहीं मढ़िया हनुमान जी की आ जाए कहीं शिव जी का शिवलिंग आ जाए कहीं रामचंद्र जी का मंदिर आ जाए वो जल्दी से खड़े हो जाए उनके साथ मुझे भी खड़ा होना पड़े अब उनके साथ घूमने उनको ले गया हूं तो इतना तो शिष्टाचार रखना ही पड़े मैंने उनसे कहा ये मामला क्या है उन्होंने कहा ये बचपन से मेरी संस्कारशीलता सुसंस्कार मेरे माता पिता बड़े धार्मिक थे उन्होंने मुझे ये सिखाया मैंने कहा ये कोई सुसंस्कार नहीं है ये सिर्फ एक जड़ आदत है उन्हें बहुत समझाया उनकी बात कुछ सिर में घुसी मैंने कहा कि अगर ये सुसंस्कार है तो कल तुम मेरे साथ चलो और तय कर लो कि चाहे हनुमान जी मिले चाहे शिव जी मिले चाहे राम जी मिले कोई भी मिले नमस्कार नहीं करना बस पहली हनुमान जी की मढ़िया जैसे जैसे करीब आने लगी उनकी हालत देखने जैसी सुबह की ठंडी हवा और उनके माथे पर पसीना और वो हाथों को अखड़ाए हुए क्योंकि डरे कि वो हाथ में जोड़ ले नहीं तो मेरे साथ मैंने कहा कि बस ये आखिरी दिन है आज तय हो जाएगा या तो मेरा साथ या हनुमान जी का साथ अब तुम तय ही कर लो तुम अपनी पार्टी निश्चित कर लो वो मेरा साथ छोड़ना भी नहीं चाहते थे और हनुमान जी का कैसे छोड़े और हनुमान जी बैठे और देख रहे और बस जैसे जैसे उनकी मरिया करीब आने लगी वो मुझसे बोले कि माफ करें मेरी हिम्मत मढ़िया के सामने से बिना नमस्कार करने की निकलने की नहीं मैं गिर पड़ूंगा मेरे पैर लड़खड़ा रहे और मैंने कहा तुम इसको संस्कार कहते थे सुसंस्कार तुम इसको धार्मिकता समझते थे और कहा के हनुमान है यहां एक पत्थर पर लोगों ने लाल रंग पोत दिया है मैंने उनको कहा कि जब अंग्रेजों ने पहली दफा भारत में रास्ते बनाए और रास्तों के किनारे मील के पत्थर लगाए तो उनको कुछ पता नहीं था उन्होंने मील के पत्थर लाल रंग से रंगे क्योंकि लाल रंग दूर से दिखाई पड़ता है और हरियाली हो चारों तरफ वृक्ष पौधे हो तो लाल रंग ही दिखाई पड़ेगा दूसरा रंग छिप जाए मगर वो बड़ी मुश्किल न पड़े क्योंकि मील के पत्थर जहां जहां उन्होंने लगाए लोग उनकी पूजा करने लगे क्योंकि इस मुल्क में तो लोग हनुमान जी को इसी तरह तो बनाते रहे कहीं भी पत्थर खड़ा कर दो लाल रंग पोत दो दो फूल चढ़ा दो फिर तुम्हारे पीछे जो आएगा वो झुक के नमस्कार करने वाला है न हो तो तुम करके देखो एक पत्थर रख के अपने घर के सामने लाल रंग पोत दो सिंदूर पोत के दो फूल वहां रख दो बस तुम देखोगे कि चले लोग और फूल चढ़ने लगे पैसे भी चढ़ने लगे नमस्कार भी होने लगे और लोगों की मनोकांक्षाएं भी पूरी होने लगेंगी ये भी ख्याल रखना क्योंकि पचास मूर्ख आएंगे तो दस पांच की तो हो ही जाएंगी पूरी वैसे भी हो जाती वो ना आते तो भी गांव के लोगों को समझाना पड़ा अंग्रेजों को बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा भाई ये हनुमान जी नहीं ये मील का पत्थर है मैंने उनसे कहा के हनुमान जी बोले कि बात तो आपकी समझ में आती है मगर मेरा दिल क्यों धड़कता बस ठीक हनुमान जी की मढ़िया सामने आई तो उन्होंने तो हाथ जोड़ ली उन्होंने मुझसे कहा आप चाहे साथ रखो चाहे न रखो मगर हनुमान जी को छोड़ के मुझे चैन न रहेगी मेरी दिन भर मुश्किल में पड़ जाएगा अब इसको क्या कहोगे शराब की लत अफीम की लत कि सिगरेट पीने की लत और इस लत में कुछ भेद फिर शराब में तो कुछ केमिकल भी हैं जो नशा लाते अफीम में तो कुछ है बात जिससे नशा चढ़ता है अफीम चाहे हिंदू को पिलाओ चाहे मुसलमान को चाहे ईसाई को तीनों को नशा लगेगा लेकिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर्फ हनुमान के भक्त को ही नशा लगता है और किसी को नहीं लगता इसलिए मामला शुद्ध मनोवैज्ञानिक है बाहर कुछ भी नहीं मस्जिद के सामने से हिंदू बिल्कुल ऐसे निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता कि मस्जिद थी उसी मस्जिद के सामने मुसलमान का भाव देखो कैसा भाव विभोर हो जाता वो अल्लाह का घर जैन मंदिर के सामने कभी हिंदू को कोई चिंता होती शास्त्रों में तो लिखा है कि पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना मगर अगर जैन मंदिर में शरण मिलती हो तो मत लेना और जैन शास्त्रों में भी यही लिखा है क्योंकि शास्त्रों में कुछ भेद नहीं ये एक ही तरह के लोग लिखते हैं इनके नाम विशेषण भिन्न हो मगर इनकी बौद्धिकता में कोई भिन्नता नहीं होती इनकी मूर्ता में जड़ता में कोई भेद नहीं होता जैन शास्त्रों में भी ठीक यही लिखा है कि अगर कोई जैन पाए कि पागल हाथी उसके पीछे पड़ा है और लगता हो कि पास में ही हिंदू मंदिर प्रवेश कर जाए तो बच सकता है मगर प्रवेश मत करना पागल हाथी के पैर नीचे दब के मर जाने से स्वर्ग मिलेगा मगर हिंदू मंदिर में प्रवेश किया तो नर्क निश्चित है तो ये तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक जाल है इस जाल में तो कुछ भी अर्थ नहीं ये तो सिर्फ तुम्हारा बनाया हुआ भ्रम है जिनको तुम अच्छी आते कहते हो अगर वे आते हैं तो अच्छी नहीं मुक्ति स्वातंत्र अच्छी बात है अब अगर एक आदमी मजबूर है तीन बजे उठ के घूमने जाने को चाहे बीमार भी हो चाहे धुआंधार वर्षा हो रही हो चाहे बर्फ पड़ रही हो मगर उसको जाना ही पड़ेगा तो ये मनोवैज्ञानिक रोग है ये कोई ब्रह्म मुहूर्त में घूमना नहीं एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरे पति आपके पास आते हम थक गए आप ही कुछ करें क्योंकि शायद आपकी माने वो और किसी की तो वो मानते नहीं मैंने पूछा क्या अर्चन तो उसने कहा कि वो आधी रात उठाते सरदार जी थे बड़े औहदे पर थे मिलिट्री में थे मेरे पड़ोस में ही रहते थे कभी कभी आते थे पत्नी ने कहा आधी रात उठाते और इतने जोर से जप जी का पाठ करते एक तो सरदार फिर मिलिट्री में मजबूत और फिर जप जी का पाठ घर में सोना हराम हो गया है न बच्चे सो सकते न मैं सो सकती पास पड़ोस के लोग भी ऐतराज करते हैं और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं तुम सब नास्तिक हो धार्मिक कार्यों बाधा देते हो अरे तुम भी उठो और तुम भी जब जी का पाठ करो मैं तो करते ही इसलिए इतने जोर से हूं कि तुमको भी कुछ बोध आए सोए सोए भी तुम्हारे कान में ये शब्द पड़ गए तो अमृत है वो तो सुनने वाले नहीं दो बजे रात उठाते मैंने उनसे पूछा मैंने कहा चनन सिंह तुम्हारी पत्नी कहती तुम आधी रात उठ के जपजी का पाठ करते अरे कहा आधी रात नहीं ब्रह्म मुहूर्त दो बजे सुबह अंग्रेजी हिसाब से दो बजे सुबह होता है बिल्कुल ठीक क्योंकि बारह बजे एक दिन खत्म हो गया फिर तो एक बजे दो बजे ये तो फिर दूसरे दिन में गिनती है इनकी अंग्रेजी हिसाब से दो बजे सुबह कौन कहता आधी रात मेरी पत्नी की बातों में मत पड़ना वो तो उल्टी सीधे खबर उड़ाती मेरे बाबत वो तो कहती मैं चिल्ला चिल्ला के जब जी का पाठ करता हूं अरे ये मेरा सहज स्वर है इसमें कोई चिल्लाना नहीं और क्या आप जैसा धार्मिक व्यक्ति भी इसके विरोध में मैंने कहा कि नहीं तुम करते तो अच्छे ही हो सिर्फ इन बेचारे अधार्मिकों पर थोड़ी दया करो और अगर दो से तुम चार बजे कर दो तो अच्छा होगा उन्होंने कहा बहुत मुश्किल बात है तो दो घंटे में क्या करूंगा मैं पगला जाऊंगा दो बजे के बाद मुझे नींद आती नहीं आ सकती नहीं जिंदगी भर का अभ्यास है वो तो ये समझो कि जब जी मैं उलझा रहता हूं नहीं तो कुछ और उपद्रव कर बैठूंगा मैंने कहा ये बात जरूर सोचने विचारने जैसी पत्नी को इसका कुछ अंदाज नहीं मैंने पत्नी को कहा कि वो ये कहते हैं कि दो बजे से चार बजे फिर मैं क्या करूंगा कुछ और उपद्रव कर बैठूंगा पत्नी ने कहा अगर कुछ और उपद्रव करना हो तो भैया जब जी का पाठ ही करो अच्छी आते भी आते हैं और जिन चीजों से भी मालकियत खो जाती हो उनमें आत्मा नष्ट होती पलटू कहते हैं बनिया बानी न छोड़े पसंदा मारे जाए पसंदा मारे जाए पूर को मरम न जानी निस्दिन तोले घाटी खोए यह परी पुरानी ये पुरानी जो आदत पड़ गई है छोड़ता नहीं रोज वही किया जाता वही खोट ऐसे दिए वक्त ने झांसे हारे राजा नल के पासे बदल गया सब दाना पानी तार तार हो गई जवानी जैसे कोई बूढ़ा खांसे हुए वसंत हलंत हमारे टुकड़े टुकड़े हुए सितारे सपने टूटे यहां वहां से जीवन अखीर अखीर में बस ऐसा ही पाया जाता है कि गमाया एक सपना यहां टूट गया एक सपना वहां टूट गया सारे यात्रा पथ पर टूटे हुए सपनों के ढेर लगते जाते और हाथ सत्य कभी लगता नहीं क्योंकि सत्य तुम्हारे आंतरिक स्वातंत्र में है उस स्वतंत्रता को हमने मोक्ष कहा है वह तुम्हारी परम धन्यता की अवस्था है लेकिन उस स्वतंत्रता को पाना हो तो आत्तों से मुक्त होना पड़ेगा फिर वे बुरी हो कि अच्छी इससे सवाल नहीं है बंधन बुरा है मुक्ति अच्छी है कहते कहा पुकारी कहा नहीं करे अनारी और कितना पुकारो कितना पुकार पुकार के कहा है संतों ने जागे पुरुषों ने उठो अपनी आत्मा से स्वतंत्रता से जियो केतिक कहा पुकारी कहा नहीं करे अनारी लालच से भापतित सह नाना दुख भारी मगर नहीं तुम अपने लालच में ही पड़े हो तुम अपने लोभ में ही पड़े हो लोभ भी एक आदत है लोभ का अर्थ है और और की आदत तुम्हारे पास दस हजार रुपये जब नहीं थे तो तुम सोचते थे दस हजार हो जाए तो बस पर्याप्त जब दस हजार हो जाते हैं तो तुम कहते हो लाख हो जाए तो पर्याप्त और जब लाख हो जाते हैं तो तुम कहते हो दस लाख हो जाए तो पर्याप्त वो दस का अनुपात बना ही रहता है जितने हैं उससे दस गुने और ये तुम कभी सोचते भी नहीं कि दस हजार भी हो गए फिर कुछ ना हुआ लाख भी हो गए फिर कुछ ना हुआ दस लाख भी हो गए फिर कुछ ना हुआ दस करोड़ भी हो जाएंगे तो कैसे कुछ हो जाएगा आखिर ये मात्रा का बढ़ता जाना ही जीवन में कोई क्रांति तो नहीं ला सकता गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए परिमाणात्मक परिवर्तन से कोई भी क्रांति नहीं होती एक मकान से दो मकान हो गए दो से चार मकान हो गए इससे क्या होगा तुम तो वही के वही हो एक मकान में रहो कि चार मकानों में रहो तुम तो वही के वही हो तुम्हारी तिजोरी में कितने नोट हैं इससे तुम्हारी आत्मा में कोई समृद्धि न बढ़ती है ना घटती तुम तो वही के वही दीन भिखारी तुम्हारा भिक्षा पात्र कभी भरेगा नहीं लालच से भापतित सहे नाना दुख भारी हो कितने दुख झेलते हो मगर फिर भी जागते नहीं जिन दुखों को झेलते हो उन्हीं दुखों को रोज रोज पैदा करने की चेष्टा भी करते हो जिस चीज से कल दुख पाया था फिर आज उसी के पीछे दौड़ रहे हो मुल्ला नसरुद्दीन सुबह ही सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठा चुपचाप अखबार पढ़ रहा था पत्नी अंट संट बके जा रही थी मगर वो अपना अखबार ही पढ़े जा रहा था पत्नी ने कहा कुछ खाओगे पियोगे नहीं मुल्ला ने कहा अखबार में छपी गालियां खा रहा हूं तू चुप रहे इतनी गालियां काफी हैं तू और सिर खा रही पत्नी ने अपना सिर ठोंक लिया जो उसकी आदत थी उसने कहा कि किसके पल्ले पड़ गई जिंदगी खराब हो गई कम से कम सुबह तो ढंग से बोला करो सुबह तो ठीक से शुरू हो सुबह से सब खराब कर देते हो ऐसी वाणी बोलते हो और इस तरह व्यवहार करते हो मैं कोई तुम्हारे पीछे पड़ी थी तुम ही मेरे पीछे पड़े थे प्रेम पत्र किसने पहले लिखा था और कौन छुप छुप के मेरी गली में आता था और रात चोरी से कौन मेरे दरवाजे खटकाता था मैं तुम्हारे घर गई थी मैंने चिट्ठी लिखी थी मैं तुम्हारी गली में गई थी मुल्ला नसुद्दीन ने कहा कि नहीं मैं ही गया क्योंकि हमेशा चूहा ही चूहदानी की तरफ जाता चूहादानी नहीं जाती चूहादानी तो अपनी जगह बैठी रहती मैं मूरख फिर दूसरी कहानी है कि पत्नी बीमार पड़ी कुछ संघातक बीमारी हो गई मरने के करीब है मुल्ला से उसने कहा कि बस जीवन में तुमने दुखी दुख दिए मरते वक्त एक सुख दे दो एक आश्वासन मुझे पक्का मालूम है इधर मैं मरी उधर तुमने शादी की मुल्ला ने कहा कभी नहीं कभी नहीं एक अनुभव बहुत है इस जन्म में क्या दस जन्मों तक अब शादी करने वाला नहीं तूने जो पाठ दिए कभी भूलूंगा नहीं ये बात ही मत उठा लेकिन पत्नी ने कहा कि तुम छोड़ो ये बकवास मैं तुम्हें जानती हूं भली भांति जानती हूँ मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है मैं इधर मैं मरी कि उधर तुमने शादी की एक वचन मुझे दे दो कि मेरे कपड़े मेरे गहने तुम्हारी नई पत्नी को नहीं पहनने दोगे मेरी आत्मा को बहुत दुख होगा मुल्ला ने कहा तूने बात ही उठा दी तो साफ बता दूं रजिया को तेरे कपड़े बनेंगे भी नहीं अभी मरी भी नहीं है पत्नी और दूसरी चूहदानी की उन्होंने तैयारी कर ली एक आदत से आदमी छूटता भी नहीं है कि दूसरे के लिए तैयार कर लेता पहले ही तैयारी कर लेता है कि कहीं ऐसा ना हो खाली रह जाऊं लोग आते बदलते रहते सिगरेट पीने वाला पान खाने लगता वो कहता सिगरेट छोड़ दी पान खाते पान खाने वाला पान खाना छोड़ देता तमाकू मलने लगता होगा हम तमाकू खाते मेरे एक परिचित थे उन्होंने तमाकू भी छोड़ दी अब वो नसनी नसूहा करते वो और भद्दी लगती उनकी नाक लाल और बीच बीच में निकाल के डबिया वो नसनी मैंने उनसे कहा भैया तू तमाकू ही खाते थे तो कम से कम किसी को दिखाई तो नहीं पड़ती थी सिगरेट पीते थे तो कम से कम थोड़ी देखने दिखाने में ढंग की मालूम पड़ती थी ये और न सुनी तुमने कहा से सीख ली मगर वो कुछ ना कुछ तो चाहिए एक छोड़ते हैं दूसरी को पकड़ते हैं तुम जरा अपने जीवन को गौर से देखना यही तुम्हारी गति है यह मन का ही ढंग है ये मन का चाल है यह मन भा निर्लज लाज नहीं करे अपानी ये मन बहुत निर्लज इसको लाज भी नहीं आती वही वही मूढ़ताएं रोज रोज करता है फिर भी लाज नहीं आती ये बहुत निर्लज जिन हरि पैदा किया ताही का मरम न जानी और सब तो कर रहे हो न मालूम क्या क्या कर रहे हो कैसे कैसे उल्टे कामों में लगे हैं लोग एक से एक उपद्रव जिनमें कोई मूल्य नहीं कोई कुछ नहीं मिलता तो पोस्ट ऑफिस के स्टाम्प भी इकट्ठे कर रहा है उलझाए हैं अपने को किसी तरह कैसी कैसी आते हैं लोगों की जरा देखो कोई शतरंजी खेल रहा है कोई ताश के पत्तों में ही उलझा हुआ है और ऐसे उलझे हैं कि जैसे जीवन मृत्यु का सवाल हो ताश के खिलाड़ियों को देखो सब भूल भाल के लगे और इस जिंदगी में और भी सब खेल इसी तरह के हैं राजनीति के खिलाड़ी सब भूल भाल के लगे धन के खिलाड़ी जैसे जिंदगी में बस एक काम है कि मरते वक्त धन का ढेर छोड़ के मरना एक कोड़ी भी साथ ना ले जा सकेंगे और मौलिक बात चूकी जा रही जिन हरि पैदा किया ताही का मरम न जाने जिस स्रोत से आए हो उसको कब खोजोगे उस अंतरतम को कब खोजोगे जो तुम्हारा वास्तविक जीवन जो तुम्हारा अस्तित्व है जो तुम्हारा सार है उसका मरम नहीं जाना चौरासी फिर आए के पलटू जूती खाए इतना लंबा चक्कर लगा के आदमी हो आ पाए हो और इधर भी जूते खा रहे हो और बीमारी छोटी बीमारी कुछ बड़ी नहीं है पलटू ये कह रहे हैं बीमारी सिर्फ एक है कि तुम्हारी चेतना अभी स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है बस और आत्तों के जाल से घिर गई है बीमारियां बड़ी नहीं है बीमारियां छोटी हैं सीधी साफ है शायद इसीलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था रास्ते से बिल्कुल घसटता गालियां देता हुआ डॉक्टर मिल गया उसने कहा कि क्यों इतनी गालियां दे रहा है बात क्या उसने कहा मेरे पैर में बड़ी तकलीफ डॉक्टर ने कहा तुम मेरे साथ आओ गालियां देने से क्या होगा डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे अपेंडिक्स को निकालना पड़ेगा डॉक्टर ने बहुत जांच की जब डॉक्टर बहुत जांच करे और कुछ ना मिले तो अपेंडिक्स निकालता है पक्का समझ लेना जब भी डॉक्टर कहे अपेंडिक्स समझ लेना उसको कुछ मिल नहीं रहा अपेंडिक्स बिल्कुल निर्दोष चीज है उसको निकाल बाहर कर दिया मगर दर्द था सो जारी रहा दूसरे डॉक्टर के पास नसरुद्दीन गया कि भाई होगा क्या मामला अपेंडिक्स भी निकल गई उसने कहा कि तुम्हारे टांसिल निकालने पड़ेंगे जब अपेंडिक्स निकल जाए तो टांसिल टांसिल भी निकल गए मगर दर्द जारी रहा है तीसरे के पास गया उसने कहा तुम्हारे दांत बदलने पड़ेंगे दांत भी निकल गए मगर दर्द था सुजारी का जारी रहा हालत भी खराब हो गई दांत निकल गए अपेंडिक्स निकल गई टांसिल्स निकल गए अब कुछ निकलने को बचा भी नहीं बस ये तीन ही चीजें निकाल सकते हालत बिल्कुल उसकी खस्ता हो गई बिल्कुल मुर्दा जैसी हालत हो गई बिल्कुल झुक के चलने लगा लकड़ी टेक टेक के चलने लगा और फिर एक दिन लोगों ने देखा उसने लकड़ी फेंक दी सीधा खड़ा हो गया और मुस्कुराता हुआ फिल्मी धुन गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है लोगों ने पूछा अरे भाई कोई चिकित्सक मिल गया जिसने बीमारी ठीक कर दी उसने कहा कि ऐसी की तैसी चिकित्सकों की मेरे जूते में खीली थी वो गड़ती थी उसकी वजह से परेशानी हो रही थी नालायकों की समझ में आया नहीं बड़ी बड़ी जांच पड़ताल की कार्डियोग्राम इत्यादि अब कार्डियोग्राम में कहीं तो जूते में लगी खीलिया है तुम्हारी जिंदगी में भी कोई सवाल बड़े नहीं है और पंडित बड़े बड़े समाधान लिए बैठे तुम्हारी जिंदगी के सवाल भी बहुत छोटे समझ हो तो जूती की खीली निकालने जैसे आत्तों से मुक्त हो इसलिए मैं अपने सन्यासी को कोई अनुशासन नहीं देता क्योंकि अनुशासन आदत बन जाते मुझसे लोग पूछते कि सन्यासी को कितने बजे उठना चाहिए इनका जितने बजे नींद खुले क्या खाना चाहिए कब खाना चाहिए कितनी बार खाना चाहिए अगर ये बातें तुम तो मुझसे पूछोगे तो आते बन जाएंगी कि तुम्हारी चेतना को ही निर्णय लेना चाहिए अगर इतना होश भी नहीं है कि कब उठना कब खाना कब पीना तो तुम आशा छोड़ो कि तुम जीवन के मूल को कि जीवन के सत्य को कभी जान सकोगे अगर ये बातें भी तुम दूसरों से पूछते फिरोगे जिंदगी अपनी अगर तुम्हें जीना नहीं आता अगर जिंदगी को थोड़ा संवार के सुंदर करके जीना नहीं आता तो तुम और क्या करोगे वह खाना चाहिए जो परेशानी में न डाले तब सो जाना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो तब उठाना चाहिए जब जिंदगी ताजी से ताजी हो जब तुम गीत गा सको नाच सको जब सूरज जगे जब पक्षी बोले जब वृक्ष उठाएं तब तुम्हारा पड़े रहना ठीक नहीं और भोजन उतना कि शरीर पर बोझ ना हो और भोजन वह कि किसी को दुख ना हो सीधी सीधी बातें इतनी सीधी बातें भी तुम तय न कर सकोगे ये भी कोई अनुशासन देगा तो फिर अड़चने होती फिर अनुशासन में तरकीबें निकलती अगर मैं कहूं कि पांच बजे सुबह उठाओ तो तुम पूछोगे अगर बुखार चढ़ाओ फिर तो कोई अपवाद बनाना पड़ेगा अगर तबीयत बीमार हो फिर अगर मैं कहूं कि दो बार भोजन करो और तुम कहोगी कि मुझे तो बीमारी है और डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा भोजन चार छह बार करो तो फिर सवाल उठने शुरू होते तुम जान के हैरान होगे कि बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध भिक्षु के लिए तैतीस हजार नियम याद भी कौन रखेगा जो भिक्षु याद ही कर लेगा तैतीस हजार नियम वो पालन कब करेगा याद ही करने में मर जाएगा तैतीस हजार नियम मगर बनाने पड़े होंगे इसी तरह तो कानून बनते दुनिया में इसी तरह तो विधान बनते सरकार एक नियम बनाती फिर लोग उसमें से तरकीब निकाल लेते फिर उस तरकीब को मिटाने के लिए और नियम बनाती वो उसमें से तरकीब निकाल लेते फिर नियमों में से नियम बनते चले जाते फिर इतने नियम हो जाते कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि मामला क्या है नियम कौन से लागू होते फिर नियम विपरीत भी हो जाते क्योंकि हर परिस्थिति को संभालने के लिए एक नियम बनाते जाते फिर नियमों का जाल फैल जाता है फिर विशेषज्ञ चाहिए जो नियमों का निर्णय करे कि इसमें से रास्ता क्या है फिर वकील चाहिए फिर अदालत चाहिए सन्यासी को स्वनिर्भर होना है उसे स्वचेतना से जीना है उसे आत्तों का गुलाम नहीं होना है आते होनी ही नहीं चाहिए जीवन में जीवन स्वस्फूर्त होना चाहिए इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रोज अलग समय पर जगो क्योंकि आदत नहीं होनी चाहिए कि रोज अलग समय पर सो की आदत नहीं होनी चाहिए नहीं जो तुम्हारे लिए सुखद और प्रीतिकर लगे वह करो लेकिन उस करने को आदत मत बना लेना उससे अन्यथा कभी करना पड़े तो एकदम परेशान नहीं हो जाना चाहिए उससे अन्यथा करने की संभावना भी खुली रखनी चाहिए क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं और अन्यथा भी कभी करना होता है हम नियमों के गुलाम नहीं है नियम हमारे सेवक है चौरासी फिर आए के पलटू जूती खाए बनिया बानी न छोड़े पसंदा मारे जाए इतना चक्कर काट कर आए हो फिर भी जागते नहीं अभी भी जूते पर जूते खाए जाते हो कोई और नहीं मार रहा है खुद ही को मार रहे हो अगर दूसरे भी मार रहे हैं तो तुम निमंत्रण देते हो तब मार रहे हैं सात पूरी हम देखिया देखे चारों धाम देखे चारों धाम सबन में पाथर पानी पलटू कहते हैं सब देखा है सब तीर्थ पुरी देख ली चारों धाम कर डाले कुछ नहीं पाया पत्थर और पानी इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया वहां जीवंत धर्म नहीं वहां मरी हुई लाशें हैं धर्म की और लाशों के पास बैठे हुए गिद्ध पंडित कहो पुरोहित कहो पुजारी कहो वो लाशों के पास बैठे गिद्ध करमन के बसी पड़े मुक्ति की राह झुलानी चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया खूब यात्रा कर करके थक गए काया छीन हो गई पैर टूटने लगे राह खो गई कर्मों का जाल फैल गया है और तीर्थों में कुछ भी नहीं पाया देखे चारों धाम सबन में पाथर पानी अब क्या करें अब कहा जाए काम क्रोध नहीं मिटे बैठ कर बहुत नहाया खूब घिस घिस के नहाए खूब डुबकी मारी जाके कुछ मिटा नहीं लेकिन ये देश हमारा अद्भुत मूढ़ता से भरा है ये देश ही क्यों सारी दुनिया सारी मनुष्य जाति छोटे छोटे लोगों को तो छोड़ दो जिनको तुम बुद्धिमान कहते हो उनकी बातें सुन के भी बड़ा आश्चर्य होता अभी कुछ दिन पहले अखबारों में मैंने पढ़ा कि जयप्रकाश नारायण जब पटना वापस लौटे तीन महीने इलाज करवाने के बाद तो धन्यवाद उन्होंने जसलोक अस्पताल के चिकित्सकों को नहीं दिया गंगा मैया को दिया महाराज अगर गंगा मैया ही नहीं बचाना था तो काहे को बंबई के लोगों को परेशान करते काहे जसलोक अस्पताल को तुमने जसलोक सभा बना रखा है कि वहां धारा सभा में तो कोई नहीं दिखाई पड़ता सब जसलोक सभा में मौजूद फिर काहे के लिए डायलिसिस गंगा का पानी पियो मजा करो और खुद ही डायलिसिस पे नहीं है संपूर्ण क्रांति करवा के पूरे मुल्क को डायलिसिस पर रखवा दिया है और लौट के पटना में कहा कि गंगा मैया की कृपा से बच के आ गए छोटों को छोड़ दो जिनको तुम बुद्धिमान कहते हो नेता कहते हो लोकनायक कहते हो उनमें और तुम में कुछ बहुत भेद नहीं मालूम होता वही गंगा मैया तो गंगा मैया तो पटने में उपलब्ध थी उनके घर के पीछे बहती होगी काहे को तकलीफ में पड़ते हो और दूसरों को तकलीफ में डालते हो इंग्लैंड से चिकित्सक बुलाए गए उनको धन्यवाद नहीं जसलोक अस्पताल के चिकित्सक जीजान तोड़ के पीछे लगे रहे उनको धन्यवाद नहीं धन्यवाद गंगा मैया का ये भारत की बुद्धिहीनता कभी टूटेगी या नहीं इस देश का बुद्धुओं से कभी छुटकारा होगा या नहीं और बड़े बड़े बुद्ध लेकिन लोगों को ये बातें जसती हैं इसलिए राजनीतिक कुशल है होशियार है लोग गंगा मैया को मानते हैं इसलिए राजनेता भी कहता गंगा मैया की कृपा से और ये गंगा मैया की कृपा से बिहार में हर साल अकाल पड़ता है और गंगा मैया की कृपा से बिहार से ज्यादा गरीब और कौन और गंगा मैया की कृपा से बिहार में जितना उपद्रव होता है गोली चलती दंगे फसाद होते हड़ताल घेराव होते उतने और कहा होते ये सब गंगा मैया की कृपा अभी कुछ ही दिन पहले मुरारजी देसाई गंगा सागर में स्नान करके लौटे थे गंगा मैया की कृपा देखो गंगा मैया भी खूब कृपा करती चौरासी फिर आए के पलटू जूती खाए गंगा सागर होकर लौट आए और दिल्ली में आके गति बिगड़ी सोचा भी नहीं होगा कि एकदम से राम नाम सत्य हो जाए मगर हो गया कल किसी ने पूछा था कि अब आप मुरारजी भाई के संबंध में कुछ कहेंगे या नहीं आप कहने को क्या बचा परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे काम क्रोध नहीं मिटे बैठकर बहुत नहाया ऊपर डाला धोए मैल दिल बीच समाना मैल तो भीतर है अंधकार तो भीतर है अचेतना तो भीतर है तुम बाहर धो रहे हो ध्यान से मिटेगी स्नान से नहीं प्रेम से धुलेगी पानी से नहीं पाथर में गए भूल संत का मरम न जाना और तुम पत्थर की मूर्तियों में ये रहे हनुमान जी ये रहे शिव जी ये राम जी पत्थरों की मूर्ति में भटके हो जीवित सदगुरु को खोजो पाथर में गए भूल संत का मरम न जाना अगर कहीं कोई जीवित संत हो तो उसकी तरंग में डूबो वही गंगा है वही तीर्थ तेरे जलवों के आगे हिम्मते सहरे बयां रख दी जबाने बेनिगह रख दी निगाहें बेजबान रख दी मिटी जाती थी बुलबुल जलवाए गुलहाय रंगी पर छुपाकर किसने इन पर्दों में बर के आसिया रख दी न्याजे इसको समझा है क्या वाइजे नादा हजारों बन गए काबे जबी मैंने जहां रख दी सिर रखने की कला आती हो सिर झुकाने की कला आती हो तो काबा बन जाता हजारों काबे बन जाते न्याजे इसको समझा है क्या ए वायजे नादा ए ना समझ उपदेशक हे मूढ़ पंडित तूने प्रेम की शक्ति को समझा क्या है तूने प्रेम भक्ति को समझा क्या है न्याजे इसको समझा है क्या ए वायजे नादा हजारों बन गए काबे जबी मैंने जहां रख दी जहां मैंने सिर झुकाया अंतकरण पूर्वक होश पूर्वक जागृति से जहां मैंने अहंकार गिराया वहां काबा बना वहां काशी बनी वहां कैलाश बने कफस की याद में ये इस तरह बे दिल माज अल्लाह कि मैंने तोड़कर एक एक साखे आसियां रख दी करिश्मे हुस्न के पिन्हा थे शायद रक्स बिस्मिल में बहुत कुछ सोच कर जालिम ने तेगे खूफी सा रख दी इलाही क्या किया तूने कि आलम में तला तुम है गजब की एक मुस्ते खाक जेरे आसमा रख दी हे परमात्मा तूने क्या चमत्कार किया कि संसार में ऐसा तूफान उठा दिया एक मुट्ठी भर खाक है आदमी मगर उसके भीतर कैसी आग रख दी इलाही क्या किया तूने कि आलम में तला तुम कि संसार में तूफान है गजब की एक मुस्ते खाक जेरे आसमा रख दी आसमान के नीचे इस मुट्ठी भर खाक में तूने क्या जादू छिपा दिया है और तुम कहा खोजते फिर रहे हो बाहर भीतर खोजो और भीतर खोजने का बोझ तुम्हें वहां मिलेगा जिसने भीतर खोजा हो किसी सदगुरु को खोजो पलटू नाहक मुए संतन में है नाम व्यर्थ मूढ़ता में ना पड़ो नाहक अपने को परेशान न करो संतों में छिपा है वह संतों में प्रकट है वह संतन में है नाम सात पूरी हम देखिया देखे चारों धाम वहां नहीं वहां तो सिर्फ देखे चारों धाम सबन में पाथर पानी निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए पलटू कहते हैं जब से जाना है जब से पहचाना है जब से उससे आंखें चार हुई तब से बड़ी निंदा होने लगी तब से चारों तरफ निंदक पैदा हो गए ये सदा से होता रहा आदमी ऐसा अजीब है जिनसे तुम्हें जीवन की कुंजियां मिल सके उनको तुम गालियां देते हो और जो तुम्हारी जिंदगी में सिवाय कांटे बोने के कुछ भी नहीं करते उनका तुम सम्मान करते हो तुम्हारी मूर्ता की कोई सीमा नहीं तुम्हारी खोपड़ी उल्टी राजनेता पूजा जाता है संत सूली पर लटकाए जाते हैं निंदक जीवे जुगन जुग लेकिन पलटू कहते करो निंदा हमें तो इससे भी लाभ है निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा हो पलटू कहते ही तो हमारा ही काम हो रहा है निंदक तो सदा जीते रहे जुग जुग जिए पलटू से मैं बिल्कुल राजी हूं क्योंकि यहां जितने लोग आते हैं वो निंदकों के कारण आ पाते जितनी मुझे लोग गालियां देते हैं उतने ही लोग उत्सुक होते हैं कि मामला क्या है किसी एक आदमी को इतनी गालियां देने वाले लोग अगर हों तो कुछ बात होगी कोई चिंगारी होगी उसे खोजने चले आते नहीं तो आओ कैसे निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए पलटू कहते हैं काम हमारा होता है काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर कुछ पैसा भी नहीं लेन देना होता और वो हमारा प्रचार भी करता है कमर बांध के फिरे करे त्यों लोग उजागर और वो कमर बांध के घूमता उसको काम ही एक और वो चारों तरफ उजागर कर देता खबर पहुंचा देता आखिर सारी दुनिया से जो लोग आ रहे हैं तुम जानते हो कौन उनको ला रहा है वो जो निंदा चल रही और निंदा भी कैसी गजब थी मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इन निंदकों के खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं मैंने कहा मैं उनके खिलाफ कुछ करूं क्यों वो बेचारे मेरी सेवा में रथ है मैं उनके खिलाफ कुछ करूं अभी पंजाब से एक मित्र आए साथ में पंजाबी की एक पत्रिका लाए गुरमुखी में लेख छपा है लेखक ने लिखा है कि वो आश्रम में रहकर अनुभव करके ये लेख लिख रहा है अब जो भी उसका लेख पढ़ के आ जाएगा वो सदा के लिए मेरा हो जाएगा लेख में ऐसी बातें कही हैं कि चौंक ही जाओगे जब यहां आओगे लेख में लिखा है कि आश्रम पंद्रह मील के क्षेत्र में फैला हुआ है पंद्रह मील छह एकड़ जमीन को पंद्रह मील तो जब हमारे पास चार वर्ग मील का आश्रम होगा तो समझो हजारों मील में फैलेगा आश्रम के दरवाजे पर ही अंदर जैसे प्रवेश करते हो लेख में लिखा है एक आदम कद नग्न स्त्री की प्रतिमा अब वो मित्र जो लेके आए थे पत्रिका पत्रिका पढ़े और देखे तो प्रतिमा कहा मुझसे पूछते थे कि प्रतिमा कहा है भाई तुम ये उसी से पूछो जिसने अनुभव करके लिखा वो रह के गया आश्रम में ऊपर लिखता है कि मैं आश्रम में रह के आया हूं और आश्रम में पांच पांच हजार लोग जमीन के भीतर अंडरग्राउंड बैठ सके ऐसे कक्ष पांच पांच हजार लोग तुम जमीन के भीतर बैठे हो इस भ्रांति में मत रहना कि जमीन के ऊपर बैठे हो और वहां जो हाल होता है उसका वर्णन तो ऐसा है कि स्वर्ग में भी जो देवता होंगे वो भी ललचाते होंगे शराब गांजा अफीम भांग और कई नई चीजें जो देवताओं को उपलब्ध नहीं एलएसडी मारिजुआना और पांच हजार स्त्री पुरुष नग्न होकर फिर जैसी रासलीला में संलग्न होते जब कोई ऐसे लेख पढ़ के आएगा तो स्वभावता कुछ परिणाम लेगा कुछ निश्चय लेगा कुछ निर्णय लेगा कि झूठ की भी एक सीमा होती और जो लोग इस तरह के झूठ बोल रहे हैं जरूर उनका कुछ निहित स्वार्थ होगा अब मुझे अड़चन नहीं है इन पे चाहूं तो मुकदमा चला सकता हूं ये तो क्या प्रमाण कर सकेंगे इतनी काफी हो जाएगा बताना कि पंद्रह मील आश्रम कहां है वो मूर्ति कहां है लेकिन इतना मुकदमा क्या करना पलटू ठीक कहते हैं निंदक जीव जुगन जुग काम हमारा होए काम हमारा हो बिना कोड़ी को चाकर कमर बांधी के फिरे कहे करे त्यू लोक उजागर उसे हमारी सोच पलक भर ना ही बिसारी वो सोचते ही रहता हमारे बाबत पलक भर को नहीं बिसारता लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी उसको लगी रहती धुन प्रेम बस गाली देता रहता है संत कहें द्रह करे जगत का भरम छुड़ावे और पलटू कहते हैं कि अगर हम में कुछ भूल हो तो जगत का भरम छुड़ा देता अच्छे ही अगर हम में भूल ना हो तो भी जगत का भरम छोड़ा देता है क्योंकि झूठी भूल को फैलाता है लोग आके देख लेते हर हाल में बेहतर है किसी भी दृष्टि से बुरा नहीं निंदक गुरु हमारे पलटू तो कहते हैं यहां तक कि हम तो उसको गुरु मानते गुरु क्या गुरु घंटाल निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे वो हमारी निंदा करता है और हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि वाह वाह खूब खेल करवा रहे मुफत के चाकर लगा दी सुनी के निंदक मर गया पलटू दिया है रोए और जब निंदक मर गया तो पलटू कहते हैं मैं रोने लगा आंख से आंसू गने लगे कि बेचारा इतनी मेहनत करता था प्रेम में गाली बकता था ये भी एक लगाव है प्रेम है नाता है रिश्ता है दिन रात मेरी चिंता करता था न मालूम कितने लोगों को मेरे पास भेजा चारों दिशाओं में खबर पहुंचाई सुन के निंदक मर गया पलटू दिया है रोए निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए जो जानते हैं जिन्होंने सत्य का थोड़ा साक्षात्कार किया है वे तो अपने संबंध में बोले गए झूठ को भी सत्य की सेवा में ही संलग्न कर लेते जो जानते हैं वे तो अंधेरे को भी प्रकाश तक पहुंचने की सीढ़ी बना लेते जो जानते हैं वे मृत्यु को भी अमृत का द्वार बना लेते आज इतना है